उसका कितने ब्रह्मांड बने और कितने टूट गए इसका आकाश को कोई पता ही नहीं है तो एक दिन एक ने कहा महाराज मैं आपका स्वागत करने के लिए नहीं आया मैंने कहा भाई हमको तो तुम्हारी याद ही नहीं आई और माफी मांगने की क्या जरूरत है हम भी माफी मांग सकते हैं कि देखो तुम हमारा स्वागत करने के लिए नहीं आए हम इंतजार कर रहे हैं तो, तो तुम्हारी याद नहीं है बोले महाराज मैंने आपके सिर पे जो फूल डाल दिया आपको चोट लगी होगी हमको तो, तो पता ही नहीं तुमने फूल कब डाला गाय को याद दिलाते हो फूल डाला गाय को दिमाग तो करते हो एक बैल के सिंह पर मच्छर बैठा हो थोड़ी देर बैठा रहा जब वहां से उड़ा तो हाथ जोड़ के पैर के सामने आया हे वृषभ मैं इतनी देर तक बिना पीछे आपके सीन पर बैठा था माफ करना बैन बोला बाबा हमको तो पता ही नहीं लगा कि तुम कब हमारी सीन पर बैठे और कब उड़ गए आकाश में ये कोटि कोटि ब्रह्मांड हो और हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु में और हर ब्रह्मांड का स्वर्ग नरक और हर ब्रह्मांड के धर्माधर्म ओ नारायण ये आकाश में बादलों की तरह तिरमरे की तरह आकाश में धूल की तरह ये उठते हैं और गिर जाते हैं ये आत्म चैतन्य नारायण यदि देहम पृथकृत्य तिथि नहीं सुखी शांतो ये बात ये है कि ये ज्ञान तुम्हें पांच वर्ष बाद सुखी करेगा तो नहीं ये ज्ञान भरने के बाद सुखी करेगा तो नहीं ये ज्ञान समाधि में जाने के बाद सुखी करेगा तो नहीं ये ज्ञान यज्ञ करने के बाद सुखी करेगा तो बात नहीं अधुन ही अभी यभी यदि ये तो जो मैं मेरा नहीं है उसको पकड़ कर मैं मेरा मान कर हो रहे हो अधुन शाम तो पंचम तो भविष्य अभी रास्ते में हमारे एक चाचा थे तो कोई चीज हाथ में ले लेते बन जाती हमको देने के लिए कोई ललचाते थे जब मैं हाथ करता था लेने को तो वो उठा लेते थे ऊपर अपना हाथ जैसे तो बच्चों को खिलाते हैं तो एक बार दो बार तीन बार हम कोशिश करते कि हाथ पकड़ रहे हैं और छल के ले हैं जब नहीं मिलता तब हम बोलते जाओ हमको चाहिए जाओ हमको चाहिए हम अपन चुप कर यहां पर ही ला के दे दे ये सारी उछल कूद जो है दुनिया वो हमको चाहिए इसी बात को लेकर बहुत मामूली बात बच्चे का खेत बच्चे का स्वभाव जाओ जिसके लिए तुम उनको मिलता रहे हो वो हमको नहीं देते सीधी सी तो बात है तनिक बात को बदलना तुलसी जी को बोतलना जरा सी बात है तो ये चीज हमको तकलीफ दे रही है छोड़ो तो इस चीज के बिना तकलीफ हो रही है तो इसकी चाह छोड़ जरा जरा वासना एवं संसार वासना का भी नाम संसार है ये एक विद्या है एक युक्ति है बोला ये योगाभ्यास नहीं है आसन करेंगे प्राणायाम करेंगे आसन करेंगे चित्त वृत्ति का विरोध करेंगे विवेक होगा सब दृष्टा अपने स्वरूप स्थित होगा वो सब नहीं ये तो जीवन की एक विद्या है विद्या माने ज्ञान जानकारी जैसे ये जहर है ये जानकारी हुई और उसको खाने की इच्छा लगते मालूम हुआ कि ये चीज झूठी है उसके साथ जो बंधन था वो टूट गया बात ये है मान मान बंधन में आयो हमको तो ये चाहिए हमको ये चाहिए हमको तो ये चाहिए तो ऐसे जेवर के बिना हम अच्छे नहीं लगते हैं हम ऐसे कपड़े के बिना अच्छे नहीं लगते हैं हम ऐसे मकान के बिना अच्छे नहीं लगते हैं ऐसी मोटर के बिना आज नहीं रहते हैं देश का ऐसा चमड़ा नहीं है इसलिए हम अच्छे नहीं हैं बाल ऐसे नहीं है इसलिए अच्छे नहीं हैं अरे बाबा तुम अच्छे हो हाँ, ये विद्या है अपनी जानकारी अच्छे तुम हो कि नहीं बाल अच्छे कपड़े अच्छे नाक अच्छे आगे तो आगे भी बढ़ के बात है हाँ मन अच्छा बुद्धि अच्छी ये तुम्हारा जो व्यक्तित्व है इसकी अच्छाई बुराई से तुम अच्छे बुरे होते हो व्यक्तित्व माने जात जो तुम्हारा श्रद्धा रखना जीवन है क्या अच्छा होगा इसके भीतर से जो निकलता है वो तो सब गंदा ही होता है नोट कर लो शरीर के भीतर से निकली कोई चीज ऐसी नहीं होती जो गंदी ना हो चाहे कान से निकले चाहे आंख से निकले चाहे कान से निकले नाक से निकले मुंह से निकले हाथ में से तो निकले नाखून निकले हाँ। जो चीज इस शरीर के भीतर से निकलती है वो गंदी ही होती है ये गंदगी का उद्गम है उद्गम उद्गम उद्गम हमारे महात्मा को बोलते थे माथक माथक मुंबा ये मुंबापुरी है ना मुंबापुरी मुंबा माने जहां से झरना निकलता है ग्लेशियर जहां से नदी निकलती है तो ये गंदगी की नदी जो बाहर आती है निष्ठा है मूत्र है कीचड़ है बलगम है लार है, है पसीना है नाखून है बलगम है सारी गंदगियों का माखन मुंबा इस शरीर में चमकाना चाहते हो ना भाई झलक जाए हाँ लोग कहें आ इतना सुंदर इतना मधुर तो विवेक कहाँ है विचार कहाँ ये जो जैसे त्याग है ना त्याग कपड़ा उतार कर पहन दिया महंगे महंगे लगे तो बाहरी चीज है वैराग्य रहता है संग्रह और त्याग दोनों बाहर रहते हैं और राग वैराग्य दोनों मन में रहते हैं त्याग संग्रह की अपेक्षा राग वैराग्य अंतरण है और असंगता आत्मा में रहती स्वच्छ चाहे हो जाए दुनिया में काला आया गोरा आया हाथ जो भी क्यों देखने की ताकत क्यों चाहे कुछ आया नींद आई सपना आया जागृत आया मौत आई जिंदगी आई दृष्टा क्यों कर असंगता आत्मा का दृष्टा का स्वरूप वो दो तरह के होते हैं एक अपने को अलग सबसे अलग मानकर असंग रहना ये वेदांत नहीं है हम सबसे अलग हैं इसका नाम वेदांत नहीं है हम अद्वितीय ब्रह्म हैं मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है ये ज्ञान होने पर जो अपनी अद्वितीयता है ये है वेदांत की असंगता जल में कमल असंग है ये शांत है ये योग है और नीलिमा में आकाश असंग है और सांप माला थारा में रज्जु असंग है ये वेदांत है जो बच्चे कच्चे लोगों की समझ में तो बात आती है बाहर का त्यागी भीतर से कितना रागी होता है ये बात लोगों को कैसे मालूम पड़े तो ये विद्या माने ये होता है वो कि जो चीज जैसी है उसकी वैसी जानकारी इसका नाम होता है कर्म माने होता है जो चीज नहीं है उसको बनाना जैसे मशीन बनाते हैं कपड़ा बनाते हैं ये कर्म कर्म से कपड़ा बनता है कर्म से खिलौना बनता है कर्म से रसोई बनती है उसका नाम होता है कर्म किसी चीज को पकाना ये कर्म से होता है और उपासना अपने मन में किसी सकल सूरत को बैठाना ये उपासना होती है और अपने मन को खाली करना ये योग होता है और जो चीज जैसी है उसकी वैसी जानकारी जिसका नाम विद्या होता है तो मेरे बाप ये जो वेदांत है ना वो किसी चीज को पका के मीठा बनाना नहीं है और किसी की सकल पूजन ला के अपने मन में बैठाना इसका नाम वेदांत नहीं है अपने मन को खाली करके रखना इसका नाम भी वेदांत है वेदांत माने जो अविनाशी स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप अद्वितीय अद्वितीयता है मेरे सिवाय और उसके साक्षात्कार की विद्या का नाम वेदांत है साक्षात्कार विद्या माने साक्षात्कार वस्तु का ज्यो का त्यों दर्शन तो ये विद्या में क्या बात है तो आपके पास एक धातु का टुकड़ा है आप समझते हो उसको पीतल किसी सर्राफ ने देखा कसौटी तो पर कटा अरे बाबा ये तो सोना है तो देखो सोने की जानकारी हो तो आप धनी हो गए कि नहीं अब आपको धनी होने के लिए कुछ है देवता की मन्नत करनी पड़ेगी कि ये देवता जी हमारे घर में सोना भेज दो तो सोना तो तुम्हारे घर में पहले से है इसका नाम होता है अच्छा तुम बड़े अभिमान में फूले हुए थे कि हमारे घर में इतना सोना है जब आके सर्राफ ने जांच की और बताया कि ये तो पीतल है तो तुम्हें गरीब होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा उसका दान करना पड़ेगा उसी समय गरीब हो जाओगे तो ये जो आत्मा की पहचान है न ये गरीब होने के लिए है ना धनी होने के लिए है वो ये तो जो ज्यों का त्यों अपना स्वरूप है उसको पहचानने के लिए है तो इसके पहचानने में बाधा क्या है मेहनत मजदूरी का काम है गर्व साधना तो मेहनत मजदूरी और ख्याली पुलाव पकाने का नाम है उपासना देखो तो बस हो गई तो बोले बन गया एक मन राधा बन गया एक मन कृष्ण मन के दो हिस्से थे और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया अजय हो जय हो आपका क्या मिल रहा है आपका मन दो रूप होते ये मानसिक संयोग ये मानसिक वियोग आप करें तो हो न करें तो न हो मिलावे तो मिल जाए अलग कर दो तो अलग हो जाए सुधा दो तो सो जाए जगा दो तो जग जाए आप अपने मन को ही तरह तरह का बना करके देखते हैं इसको मानस बोलते हो ये मानसिक है बन के बड़े बैठ गए दृष्टा बाबा चमत्कार है दृष्टा जी मैं दृष्टा हूं ये आपको अनुभव होता है ये तो वृत्ति है ये तो आप अपने मन की वृत्ति बना रहे हैं कि मैं दृष्टा हूं मैं दृष्टा हूं ये तो भाव है तो वो दृष्टा है पतंग उड़ रही है आसमान में हो संक्रांति आ रही है ना तो पतंग उड़ा रहे हैं हाँ, दृष्टा की पतंग उड़ा रहे हैं वो दृष्टा है हैं तो दृष्टा को जड़ बना रहे हैं दृश्य ये दृष्टा है क्या अनुभव यह दृष्टा है ये अनुभव है तो वो दृश्य है वो जड़ है और वो दृष्टा है ऐसा अनुभव है तो परोक्ष है और मैं दृष्टा हूँ ऐसा अनुभव है तो वृत्ति है क्या अनुभव है अभिमान है मैं दृष्टा हूँ ये एक अभिमान की वृत्ति भाई मेरे वेदांत की विद्या ये बिना सदगुरु जीवन मुक्त सदगुरु की संग संगत के बिना वो उपदेश करे कि न करे परिचय सद्या संता यद्यपि कथयंती नो बहुपदेशम संत की सेवा करो यदि वो उपदेश न करें तो भी जाते शाम कोई रखा ताये भगवंत शास्त्र जो उनकी मनमौजी बातें होती हैं कितने आए कितने गए कितने मरे कितने जिंदा हुए कितनों ने प्यार किया कितनों ने मार दी क्यों के क्यों प्यार के साथ गए नहीं गए मार के साथ भड़क नहीं गए ये जो आत्म वस्तु है ये विद्या है वो यदि देव पृथक करते हो यदि विश्रम्य थी अद्वैश्व सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्य लो नगर पाल उधार का काम नहीं कुछ मेहनत मजूरी करने की जरूरत नहीं सपना देखने की जरूरत नहीं कर्म की साधना मेहनत लगी हुई है और स्वर्ग में इंद्र अप्सराओं का नाच देख रहे हैं वो भगवान के दरबार में नाच रहे सपने की साधना और समाधि सुसुप्ति की साधना दृष्टा तुरीय है परंतु पूरी माने ब्रह्म का अरे मेरे बाप खैरे खैरे सत्य खैरे जिनको मालूम नहीं है चीज कैसी होती है एक बार किसी ने खीर की बहुत तारीफ की हो खीर कैसे होती है पायल एक अंधा था उसने पूछा कि भाई हमको बताओ कि ये कैसी होती है तो पूरा हाँ, बिल्कुल बगुले की तरफ सफेद तो उसने पूछा बगुला कैसा होता है तो उसने अपना हाथ ऐसे बगुले की तरफ बना के उसका हाथ लगाया ऐसा होता है अच्छा तुम्हारा हाथ से इस समय टेढ़ा मेढ़ा लगता है तो खीर टेढ़ी होती है ये अंधे लोग महाराज स्वयं नष्ट परान नाशयती स्वयं तो नष्ट विनष्ट नहीं है कुछ समझते हैं और दूसरों का सत्यानाश और सकते यदि देहम पृथक कृत्य क्षति विश्रम दृष्टि ये एक भेद है हत्य मानस काम की एक गुड़िया मोटर गाड़ी है बैलगाड़ी है टांगा है रिक्शा है उस पर जो चढ़ा हुआ है वो इससे बिल्कुल अलग है न लगत इस प्रेम के साथ वो तो कभी लगता ही नहीं जिसके मरने से वो मरता नहीं है इसके पैदा होने से पैदा नहीं होता है इसके जवान बुद्धा होने से जवान बुद्धा नहीं होता है बिल्कुल तो अलग न है अलग न बिल्कुल तो लगाव नहीं है देह के साथ अच्छा एक जरा सी बात सुनाते हैं सत्य क्या है कि नहीं सत्य क्या है क्या नहीं है इस बात को अलग रखें यदि आपका विश्वास हो किसी सत्पुरुष पर शास्त्र पर सत्पुरुष तो आप उसकी एक बात मान लें फर्ज करके तो आप कितने काम करते हैं गणित लगाते हैं फर्ज करके लगाते हैं आप अपने भविष्य की योजना बनाते हैं तो फर्क फर्क कर लो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो क्या करेंगे तो अच्छा इतना मुनाफा हो गया तो पैसे को किस काम में लगाएंगे फर्क करके काम करते हैं कि नहीं तो वहाँ जा रहे हो मिल गए तो बहुत बढ़िया नहीं मिले तो है पहले से सोच लेते हैं तो आप एक अपने मन में कर लीजिए फर्क कर लीजिए मैं देश काल वस्तु से अपरित सजातीय विजातीय भगत भेद ब्रह्म मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं फर्जी आप अपने दूसरों के बारे में फर्ज करते हैं मान लो वो चोर निकला तो, तो हमारा पैसा वापस नहीं होगा है मान लो ईमानदार निकला तो, तो हमारा पैसा वापस कर देगा दूसरे के बारे में आप बहुत फर्क करते हैं आप एक फर्क शास्त्र के कहने से गुरु के कहने से संत के कहने से फर्जी तौर पर अपने आप को आप ब्रह्म माने तब ये देह में जो मैं है सो देह का ही एक अपूप है वो अपूप जैसे आपके घर में कोई चीज रखी खाई रखी जाए तो उसको सफेद सफेद हरे हरे फसूद होते आते हैं ना वैसे आपके देह में एक कुम्हारी पैदा हुई एक फपूत था और उसका नाम मैं हूं और आपने उसको मैं समझ लिया मैं ब्रह्म का विकार नहीं है मैं देह का विचार है मैं ब्रह्म ब्रह्म मैं नहीं हो गया है देह में मैं पैदा हुआ और उसको हमने मैं मान लिया पंचभूत में एक शकल बन गई तो उसका नाम हुआ देह और उसमें एक चेतना प्रकट हो गई और मैं मैं मैं हूं लगा और उसको हमने मैं मान लिया हाँ। फर्ज कर लो ब्रह्म अब आप देखो देह और देह के संबंधी देखो भाई जिनकी वेदांत में रुचि होगी ना उनको चुटकी बजाते चुटकी बजाते काम बनेगा आप देखो क्या तुम पूर्व जन्म में कहा से आए हो तो ब्रह्म का तो पूर्व जन्म होता ही मैं ब्रह्म अच्छा अगले जन्म में कहा जाओगे हाँ, ब्रह्म तो कहीं जाता आता नहीं तो उसका अगला जन्म भी नहीं है अच्छा नरक स्वर्ग कहा जाओगे तो जो पापी कोई आत्मा होता है उसको नरक स्वर्ग होता है मैं तो करता भोगता हूं ही नहीं तो मुझमें सुख दुख कहा है राग द्वेष कहा है जन्म मरण का अरे भाई ये है ये है हमारा घर बोले देह का घर है घर का देह है घर देह को बांधता है वो और देह घर को बांधता है देह चाहता है कि हमारे घर में दूसरा न घुसे और घर चाहता है कि हमको छोड़ के कहीं जाए देह बांधता है घर को घर बांधता है देह को दोनों को मन बांधता है फर्ज करो कौन है आपका सारा किंतु सारी चिंता सारा दुख सारा शोक सारा मोह सारा भय इसलिए है कि तुम अपने को ये देह देह मानकर बैठे किसी को आके शोक छूता है इतना वेदांत सुनते हो बीस पच्चीस वर्ष तो हो गया वेदांत सत्संग मंडल को वेदांत सुनाते सुनाते हैं पच्चीस वर्ष तो हो गया सताईस वर्ष हाँ बाईस तेईस वर्ष तो, तो मैं ही आता हूँ इतने दिन सुनते सुनते हो गया पर फर्ज भी नहीं कर सके रोज पांच मिनट फर्ज कर लिया करो पांच मिनट फर्ज भी नहीं कर सके कि न ये देह मैं हूं और न देह और देह के संबंधी मेरे आप चाहते हो हमारा शोक मिट जाए हमारा भय मिट जाए हमारा दुख मिट जाए तो उसकी बजाते मिलने की चीज है तो हमको एक महात्मा ने बताया था हाँ, हाँ। मैं उसे सत्संग में बैठा हुआ था बोले पंडित जी काम करना हो तो करके आओ भोगना हो तो भोग के आओ कमाना हो तो कमा के आओ रही बात मुक्ति की सो तो हम चुटकी बजावेंगे और तुमको मुक्ति मिलेगी तुम देखोगे मुक्त होगा यदि हम पृथक कृत्य श्रम में तिष्ठति घोड़े के रिकाब में और पांव ये अष्टावत्र गीता माने जितनी देर लगती है घोड़े के रिकाब में एक पांव रख दिया राजा जनक ने घोड़े की ओर जो पांव होता है वो रिकाब में नहीं रखा जाता जो दूसरी तरफ होता है वो रिकाब में रखा जाता है जैसे घोड़ा दाहिने हो तो पहले आप बायां पांव रिकाब में रखेंगे और दाहिना पांव उठा के घोड़े पर चढ़ जाए रिकाब में पांव रख दिया जनक ने और रस्ता ने का खैर तो जनक ने कहा मैं ब्रह्म न शास्त्र पर विश्वास है न पर विश्वास है न अपना विवेक है, है? हाँ। न अनुभव करने के लिए तैयार है फर्जी तौर पर भी नहीं छोड़ सकते हम कहते छोड़ो फर्जी तौर पर छोड़ दो मान लो हमने छोड़ दिया तो अरे छोड़ दिया तो सच्चिदानंद गण ब्रह्म हो हाँ, और नहीं छोड़ा तो हड्डी मांस के पुतले हो यदि हम पृथक कृत्य चिति विश्रम्य तिषति विश्राम एक क्षण का विश्राम देह को अलग कर दो तो देह माने हड्डी मान शाम का देह और देह माने मनोवृत्तियों का देह और देह माने सुसुप्ति का देह ये सोना भी शरीर में होता है वो नहीं तो एक गोली खा लेने से नींद कैसे आ रहे हाँ, बोले लो कम्पोज क्या बोलता है कम्पोज क्या क्या बोलते हैं यदि नींद देह में न होती तो वो गोली खाने से कैसे आ तो, तो गोली तो देह मुंह में जाती है देह में हाँ, और नींद को बुला देती है अच्छा बुद्धि यदि शरीर में शरीर में नहीं होती तो वो नशा पीने से उत्पटान कैसे हो जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने लगते हैं जो नहीं बताना चाहिए वो बताने लगते हैं बुद्धि शरीर में होती है तब नशा का असर उस पर पड़ता है मौत कहाँ होती है तो शरीर जन्म किसका हुआ है तो शरीर का रोग कहाँ होता है तो शरीर में छोड़ने का भय किसके लिए होता है तो शरीर के लिए मैं शरीर मैं शरीर मैं शरीर अच्छा भाई फर्जी तौर पर आप इसको कोई देर के अलग हो अलग हो जाओ और अपने स्वप्रकाश आत्मा में टिक जाओ पांच एक क्या बोलते हैं आचार्य आप जाके सीख आओ बिलास में ये अरबिस्तान है हाँ। और अब तक सैकड़ों पैगंबर हुए हैं और उनकी वाणी मनसूख की गई मनसूख मैंने काट दी ये कुरान वाले बोलते हैं वो पैगंबर साहब के पास जो कुरान आए कुरान कभी तो उसमें लिखा है कि अब तक जितने पैगंबर हुए हैं और उनके द्वारा खुदा ने जितने पैगाम भेजे हैं अब सब मनसूख किए जाते हैं अब आखिरी पैगाम यही है पैगाम माने संदेश ईश्वर का आखिरी संदेश कुरान शरीफ है इसके पहले के सब गलत और इसके बाद कोई आवे का वो भी गलत बस यही सही है जो इमली के थोड़ा में पैदा होता है ये देखो तो भाई मेरे ऐसे संदेश आवे और कैंसिल किए जाएं संदेश आवे और कैंसिल किए जाएं कानून बने और कैंसिल किए जाएं हैं और अभी आगे न जाने क्या कानून बनेगा ऐसी असंभावना का नाम ऐसी विपरीत भावना का नाम वेदांत नहीं है ये कैंसिल करने की चीज नहीं है ये स्वानुभूति है हाथ कंगन को हाथ क्या हाथ में कंगन है तो शीशे में नहीं देखा जाता आप अपने को देखिए आप हैं क्या तो इसमें बात क्या है कि आप कहीं नहीं सुन सकते अधुनई वसुति शांतो बंध मुक्तो भविष्य ये तुमने अपने को बांध बांध के जो बंधन में डाला है ना कोई बंधन नहीं है अधूरा ही हुआ माने अभी अगले क्षण में नहीं इसके लिए एक सेकेंड की इंतजार करने की जरूरत नहीं है असल नगद माल के सौदागर हैं उधार माल के नहीं आज नगद कल उधार ये नगद ये मरने के बाद स्वर्ग में नहीं वैकुंठ में नहीं गोलोक में नहीं कि आप काम बंद होने के बाद समाधि में नहीं ऐसे महाराज लोग लगाते हैं आप जो मुंह पर लगाई दोनों की और नाक की हमारे में जा रहे हैं चतुर्बंद हो रहा है बंद हो रहा है विबंध हो रहा है एक बंद हो रहा है एक बैराग की बात भी सुनाते हैं बोला यदि पानी में रहने से ईश्वर मिल जाता तो सबसे पहले किसको मिलता मेढक को यदि पानी में रहने से ईश्वर मिलता तो सबसे पहले मेढक को मिलता मछली को मिलता और यदि कंकड़ पत्थर खाने से ईश्वर मिलता तो सबसे पहले कबूतर को मिलता पारावता शिलाहारा कदाचित चातका न पिबंती मही तो यम सबसे पानी न पीने से मिलता तो पहले चातक को मिलता प्रतिरस्ते आ जन्म मरणांत ये गरुड़ पुराण के श्लोक में हो आ जन्म मरणांत गंगा की तभी स्थिता मंडूक मध्य प्रमुखा किम भवंती तपस्विना मेरा तपस्वी है नकली तपस्वी है ईश्वर की प्राप्ति जहाँ तुम हो वहाँ है तुम्हारे चेतन मय में है पानी में नहीं है आग में नहीं है सौराशि तो का ईश्वर तुम्हारे मय में है तो ये मैं और ये मेरा ये शरीर को तुम बोलते हो मैं और शरीर के रिश्तेदारों को बोलते हो मेरा शरीर को भी कभी कभी बोलते हो मेरा धन को बोलते हो मेरा मकान को तुम्हारे मेरा का मैं का जो पेट है मेरा उसमें क्या भरा है तो उसमें कंकड़ पत्थर भरे हैं ये हीरे मोती कंकर पत्थर हैं और इनको कोई खा के जिंदा नहीं रह सकता और पांच सात दिन रोटी न मिले तो आदमी लाख रुपए का हीरा दूसरे को दे के रोटी खाएगा जिस पैसे पर पूछते हैं क्या कीमत है उसने तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं थी तुम्हारा दिल ठीक नहीं किया है दूसरे का दिल ठीक नहीं किया दूसरे की बुद्धि ठीक नहीं की क्या संपदा क्या होगी पूरे पूरे सकते तो यदि देहम पृथक करते तो देह को अलग करने का मतलब ये नहीं है कि काट के अलग कर रहे हो जिस बुद्धि में देह की के प्रति ममता है अहंता है मोह है उस बुद्धि में से ममता को मेरे मन को उस बुद्धि में से हटाना पड़ता है उस बुद्धि में से मैं को हटाना पड़ता है चित विश्रम तिष्ठती अधुनैव सुखी सा एक सेकेंड की भी इंतजार नहीं करनी है ही वैसी समय तुम सुखी हो शांत कोई बंधन बंधन अपने में अपना नहीं होता बंधन दूसरे के साथ अपना होता है देखो तो आपको मालूम है बंधन दूसरे दूसरी चीज के साथ दूसरे का बंधन होता है एक पेड़ दूसरे पेड़ के साथ बांधा जा सकता है पेड़ में आदमी बांधा जा सकता है अब कड़ी हाथ को बांध सकती है मेरी पाव को बांध सकती है स्वयं हाथ अपने को नहीं बांधता स्वयं पाव अपने को नहीं बांधता स्वयं हाथ हम स्वयं अपने को नहीं बांधते दूसरे के साथ जोड़कर अपने को बांधते हैं ये मेरे पास अग्नई सुखी शांतो तो, बंध मुक्तो भविष्य कहीं बंधन है कहा बंधन रोज सवेरे उठ के एक बार सोच लिया करो कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना हम जी नहीं सकते ये देखो मोह में मत पड़ना मात्र मोहन को हो मोह मत करना ऐसी कोई चीज कोई आदमी है ही नहीं जिसके बिना तुम जी न सकते पशु होते हैं तो क्या बेटे बेटी के साथ जिंदा रहते हैं पहचानते ही नहीं है वो घोड़ा कि ये हमारा बेटा है गाय पहचानती नहीं कि हमारा बछड़ा है बेटा तो बेटी के साथ क्योंकि भक्त रहते हैं बानर के पास कहाँ हीरे मोती रखे हैं कितने खुश हैं और कहो बाबा तुम बानर की और बैग की बात कहते हो देखो एक एक को इसका तर्क सुनाते हैं ये डॉक्टर लोग जो है ना लेबोरेटरी में जो जांच करते हैं तो कहते हैं ये दवा बेहद पर लग गई ये दवा है ये दवा बानर पर लग गई ये दवा गाय बैल पर लग गई तो ये तुमको भी लगे हाँ दवा करनी हो तो जो उनको लगती है तो तुमको लगेगी और त्याग करना हो तो जो उनकी मस्ती है हाँ, उसमें से तुम नहीं सीख सकते दवा तो उनके शरीर से सीख सकते हो मस्ती उनके शरीर से नहीं सीख सकते हाँ तो बात उदय अजी आप क्या बोलते हैं हमको ये कर्तव्य है हमारा ये कर्तव्य है, है? हम ब्राह्मण हैं हमको वेद पढ़ना चाहिए हम छत्रे हैं हमको बंदूक चलानी चाहिए पारा देना चाहिए हम वैश्य हैं हाँ। अरे भाई ठीक है तुम सब हो वो करो जो हो सो करो उस पर हमारा क्या कुछ न कुछ किए बिना तो रहोगे नहीं खटपट तो करोगे तो कायदे से जो है वही करो करना बुरा नहीं है भगवान ने किसी चीज का होना या करना बुरा नहीं है पैसा होना तुम्हारे पास बुरा नहीं है पर तुम जुआ जो खेलते हो और हाँ, तुम्हें भगवान ने जीव दी मुंह दिया हाथ दिया हाँ, तो उससे भगवान का प्रसाद नहीं खाते शराब जो पीते हो ब्राह्मण करे ब्राह्मण का काम करे क्षत्रिय क्षत्रिय करे रात एक सज्जन आए थे हमारे पास बहुत पढ़े लिखे डॉक्टरेट उनके कितने विद्यार्थियों ने डॉक्टरेट किया है बोले स्वामी जी ये जो वर्णाश्रम है ये क्या कभी नहीं रहेगा क्या ऐसा भी कभी होगा कि वर्णाश्रम न रहे तो मैंने उनको कहा कि मैं एक बार दिल्ली गया था एक क्लर्क ले गया हो हमारे को अपने घर में तो उस मोहल्ले का नाम था विनय नगर उन दिनों आप बदल गए विनय नगर तो मैंने पूछा विनय नगर इसका नाम कैसे रखा गया तो उसने बोला चपरासी जिसमें रहते हैं उसका नाम सेवा नगर है और हम क्लर्क लोग जिसमें रहते हैं उसका नाम विनय नगर है अब सरोजिनी नगर होते दिल्ली में उस मोहल्ले का और जिसमें अक्सर लोग रहते हैं उसका नाम शान नगर है यही हो कांग्रेस के राज में